चेतम शके नहीं आत्मान रसनम विद्धि शरीरम रसमेव तो बुद्धि तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव इंद्रिया हयानाहु विषयास्ते सुगोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते त्याहुर्मनीषिण महाराज कहते हैं कि कर्मी और ब्रह्मवेत्ता दोनों परम ब्रह्म का और अपरम ब्रह्म का परातर ब्रह्म का आश्रय देते हैं एक है कर्मियों का आश्रय और एक है ब्रह्मवेदताओं का कर्म के संबंध में ऐसा समझना चाहिए कि एक तो होता है निषिद्ध कर्म तो निषिद्ध कर्म करने से मनुष्य का पतन होता है निषिद्ध माने जो काम मना किया हुआ है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि जब समाज से निषिद्ध शास्त्र से निषिद्ध लोकहित की दृष्टि से निषिद्ध कर्म हम करेंगे तो कभी न कभी हमारे चित्त में गुलामी आवेगी ही आवेगी कि हमने बुरा काम किया बोले हम नहीं मानते अच्छा बुरा नहीं मानते पाप पुण्य नहीं मानते तो ये बात तुम तभी तक कहते हो जब तक तुम्हारे अहंकार में लौकिकता की फुट है बल है जब बीमार करोगे जब अपने में दैन्य मालूम पड़ेगा जब कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं दिखेगा उस समय तुम्हारा मन निर्बल कर जाएगा और जब निर्बल करेगा तो वो भीतर ही भीतर ये बात स्वीकार करेगा कबूल करेगा भीतर से कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए था हमने किया तो गलत किया इंद्रियों से बस में होके किया विषय लोलुपता से किया है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया अपने अहंकार की पूजा प्रतिष्ठा के लिए किया कभी न कभी बुरा काम करने वाले को गुलामी होगी ही होगी भले छह महीने पहले तुमने दूसरे को हानि पहुंचाई हो और फिर सिर में दर्द होए ना और जल्दी डॉक्टर की दवा से अच्छा न हो तो ख्याल आ जाएगा कि हमने बुरा काम किया था तो आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है और दूसरी बात है विहित का आचरण उल्लंघन हाँ। विहित है कि प्रत्येक मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए तो सत्य बोलना विधान नहीं है कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए ये विधान है बोला क्योंकि जो जो सत्य हो वो वो सबको बताए देने का नहीं होता तो आवश्यक भी हो उपयोगी भी हो बोलने में मिठास भी हो दूसरे को सुख भी हो समयोचित भी हो हाँ। बोलिए तो सब जब बोल देखी की रीत जानो सब खंडर अनूप जाने लगे गाइए गाइए तो तब जब गाय बेटी हुई थी जानो है ना तो गाना तो तब जब कुछ काल है ना राग रागनी ग्राम मूर्खना कुछ मालूम हो राग रागिनी का अंग भंग करने के लिए नहीं गाया जाता तो विहित जो संध्या बंदन आदि नित्य कर्म है उनका अनुष्ठान न करने से मन विधि का उल्लंघन करने से और निषिद्ध का आचरण करने से मनुष्य को प्रत्यवाय होता है प्रति माने प्रतीप अव माने अधा अवाप और अयन माने गमन अपने लक्ष्य की विपरीत दिशा में अधोगमन होता है प्रत्यवाय होता है और यदि विहित कर्म का अनुष्ठान करते हैं और निषिद्ध का परिवर्जन करते हैं तो अभ्युदय होता है अभिमाने चारों उद माने ऊपर अय माने गति सर्वतोमुखी गति होती है सर्वतोमुखी प्रगति होती है अभी माने सर्वतोमुखी और उत्त माने ऊर्ध्व उन्नति और आय माने गति हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं सर्वतोमुखी चतुर्मुखी उन्नति प्राप्त होती है विहित के अनुष्ठान से और निषिद्ध के परिवर्तन से अब विहित में दो तरह का विभाग है एक तो लौकिक जैसे कुआं खुदवाना बगीचा लगवाना सड़क बनवाना अस्पताल खुलवाना विद्यालय बनाना है ना इसमें लोक का हित प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है है ना ईर्ष तो बोलते हैं इसको हो दावली तालाब कुआ बगीचा रास्ता है ये बनवाना तो ये जो कर्म है ये इनके संबंध में शास्त्र में वर्णन है कि ये इष्टापूर्त जो है वो चांद्रमस गति को प्राप्त कराते हैं पितृलोक में जाना होता है चांद्रमस गति की प्राप्ति होती है और वहाँ से फिर उत्तम लोकों में जाना और उत्तम लोकों से नीचे आना नीचे आके यहाँ भी ब्राह्मण होना और होना तो यहाँ भी धनी होना सुखी होना ये श्रुति में तद जय रमणीय चरणा अभ्यासो ये रमणीयाम योजम आपदीरन ब्राह्मण जो निम्बा क्षत्रिय जो निम्बा वैश्य जो निम्बा तद जैव कपूय चरणा अभ्यासोह ये कपूयान जोनिम आकबीरन शिव जोनिम्बा सूकर जोनिम्बा जो निम्बा चांदो के उपनिषद ने ये वर्णन किया कि अगर निषिद्ध कर्म करोगे और गृह का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें कुत्ते की जोनी मिलेगी सूकर की जोनी मिलेगी चंडाल की जोनी मिलेगी और यदि उत्तम कर्म करोगे तो धर्म के प्रभाव से पितृलोक में चंद्र चांद्रवश ज्योति से पितृलोक में जाकर के और उत्तम उत्तम सुख भोग के स्वर्ग भोग के फिर लौट के आओगे अब जो लोग उपनिषद में कही हुई रीति से नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हैं उनकी कर्म में ले चलने की शक्ति है कर्म तो समझो कि रथ है वो तो आगे अभी दूसरी बात आने वाली है और संकल्प जो है वो सारथी है संकल्प से यदि हम सत्कर्म करें तो हमारे संकल्प की पूर्ति की दिशा में वो ले जाता है और यदि निष्काम हो गए तो हृदय की शुद्धि हो करके यही यही भीतर से भीतर भीतर से भीतर भीतर से भीतर है ना उपासनाओं के सड़क पर सड़क कट जाते हैं और अंतकरण की शुद्धि होने लगती है और जहाँ हम हैं वहीं ईश्वर की ओर चलने लगते हैं असल में एक ने कहा कि निष्काम कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है और एक ने कहा कि निष्काम कर्म करने से अंतकरण की शुद्धि होती है तो देखने से मालूम पड़ता है बड़ा विरोध है लेकिन निष्कामता असल में अंतकरण की शुद्धि ही है अंतकरण की शुद्धि क्या है है ना करण का विषय संपर्क से रहित होना जब तक कामना रहेगी तब तक अंतकरण में विषय का संपर्क बना रहेगा अंतकरण विषयाकार रहेगा और जब कामना नहीं रहेगी तो अंतकरण विषयाकारता को छोड़ देगा तो क्रम मुक्ति का मार्ग है कर्म निष्काम कर्म उपासना योग इससे अपने अंतकरण को शुद्ध करते करते भीतर ही हमको ब्रह्मलोक का अनुभव होने लगता है और ब्रह्मलोक में पहुंचने पर हाँ, शुद्ध अंतकरण में देश क्या है काल क्या है वस्तु क्या है इनका अधिष्ठान क्या है इनसे अपरिच्छिन्न क्या है इनका प्रकाशक क्या है अपने स्वरूप के बोध में बहुत बड़ी मदद मिलती है इसलिए जो लोग इस दुख संसार सागर से पार जाना चाहते हैं दुख से छूटना चाहते हैं नरक स्वर्ग से छूटना चाहते हैं जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं उन्हें अपर बुद्धि से अथवा पर बुद्धि से ब्रह्मोपासना करनी चाहिए तो अपर ब्रह्मोपासना क्या है बोले तो अग्नि की उपासना अग्नि को कोई साधारण वस्तु नहीं समझना हो ये बिजली जो होती है ना जिससे पंखे चलते हैं और रोशनी होती है ये भी एक प्रकार की अग्नि है अग्नि का ही ये स्वरूप है हाँ। एक आग होती है जो लकड़ी जलाने से पैदा होती है उसको भौम अग्नि बोलते हैं भौम अग्नि एक अग्नि होती है और पेट में होती है जो भोजन पचाती है उसको औदर अग्नि बोलते हैं और एक दिव्य अग्नि होती है विद्युत अग्नि बिजली बिजली रूप जो चमकती है आकाश में चक्कर से जो पैदा होती है संघर्ष से जो पैदा होती है और एक खान की आग होती है जो सोना निकलता है गर्मा गर्म गर्मा गर्म जो सोना निकलता है ना ये अग्नि होती है तो अग्नि में क्या विशेषता है देखो आप कि अग्नि में पार्थिव और आस्तिक माने मिट्टी से बनी हुई सब चीजें और पानी से बनी हुई सब चीजें अग्नि में भस्म हो जाते हैं चांदी भी जल जाती है आग में हो तांबा भी जल जाता है आग में लोहा भी जल जाता है आग में तो ये अग्नि जो है वो पार्थिव और आप आपके माने जली है दोनों तत्वों को भस्म करने वाला है तो आप देखो अग्नि की उपासना करोगे अग्नि के स्वरूप का ध्यान करो कि संपूर्ण विश्व में अग्नि परिपूर्ण है और वो पृथ्वी का कारण जल और जल का कारण अग्नि तो अग्नि में ये सारे पार्थिव पदार्थ भस्मसात हो जाते हैं इसी से ज्ञान को अग्नि की उपमा देते हैं तो एक है उपास्य अग्नि और एक है ज्ञ अग्नि तो उपास्य अग्नि जो है वो भी प्रपंच को मिटाने वाला है और जो ज्ञ अग्नि है अग्नि है ब्रह्मा अग्नि है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा अग्नऊ ब्राह्मणा हुतम ब्रह्म गंतव्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना तो एक एक उपास्य अग्नि जिस अग्नि की उपासना करके हम अपने चित्त के रसीलापन को और भौतिकता को न्यून करते हैं अग्नि की उपासना करने से क्या होगा हमारे चित्त में जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण है ये असल में अध्यात्म विद्या जो है ये व्यक्तिगत रूप से अंतरंग में उन्नति करने की विद्या है है ना? ये तो बाहर से भीतर आने की विद्या है अपने आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करने की विद्या है दस आदमियों का मनस पर एक तरीका हो जाए अध्यात्म विद्या में ऐसा होना शक्य नहीं है वो जो सामूहिक उपासना होती है जैसे संकीर्तन जैसे जप जैसे काट उसमें ही थोड़ी देर के लिए अगर राग से ताल से लय से है ना भाव से अगर भगवान का नाम कोई ले तो थोड़ी देर तक सबका मन समान स्तर पर आता है बाद में उसके फिर अपनी अपनी जगह पर लौट जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मन जो है वो अपनी कक्षा में अकेले ही अंतर्मुख होता है वो कई मनों को लेकर के अंतर्मुख नहीं होता इसी से चाहे कितने पवित्र भाव से कोई संगठन बने हाँ। और इसी से जो विरक्त महात्मा अवधूत महात्मा जो फक्कर महात्मा फकीरी दृष्टि के जो लोग होते हैं ना वो व्यक्तिगत उत्कर्ष जो है अध्यात्म विद्या का जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद विलक्षण सुख उसकी ओर अग्रसर होते हैं संगठन पहले चाहे कितना भी पवित्र बने परंतु उस सांसारिक स्वार्थ वाले लोग जो हैं वो उसको विषय भोग की ओर स्वार्थ की ओर सांसारिकता की ओर तो उसको खींच लेते हैं तो अध्यात्म विद्या जो है ये अग्नि विद्या है अध्यात्म विद्या जो है वो अग्नि विद्या है अग्नि विद्या अग्नि विद्या क्या है उच्च श्रद्धम जागृध्वम अग्निष्ठध्वम भारत अरे वो प्रतिभाशाली पुरुषो उठो उठो जागो अग्नि की इच्छा करो अग्नि का आवाहन करो प्रकाश का आवाहन करो वो प्रकाश जिसमें नाम रूप नाम रूप डूब जाए वो अग्नि वो अग्नि जिसमें भौतिकता जिसमें भौतिक दृष्टि भस्म हो जाए वो अग्नि तो यहाँ बताया कि जो लोग अभय पद की प्राप्ति करना चाहते हैं और दुख रूप संसार से मुक्त होना चाहते हैं वे या तो निष्काम कर्म के द्वारा निष्काम उपासना के द्वारा है ना हृदय में अग्नि का आवाहन करके अग्नि का ध्यान करके अग्नि की उपासना करके विषय वासना को भस्म कर देते हैं और क्रमशः परमात्मा को प्राप्त करते हैं क्रम योग के द्वारा अथवा ज्ञान अग्नि के द्वारा हाँ। ज्ञानाग्नि ये भव नहीं है बाध है और वो बाध जो है वो विषय का भी है बोला और इंद्रियों का भी है और मनोवृत्तियों का भी है और समाधि आदि स्थितियों का भी है और असंप्रज्ञा आदि सारी स्थितियों का है, हैं? तो अग्नि की उपासना वध प्रधान है और ज्ञानाग्नि जो है वो बाध प्रधान है वध और बाध बोला इसी से जो यज्ञ होते हैं ना यज्ञ उसमें वो भी है ना आप जानते ही क्या सुना तो अग्नि विद्या वध प्रधान होती है और ज्ञान जो ब्रह्म विद्या है पर ब्रह्म विद्या है वो बाध प्रधान होती है अपर ब्रह्म विद्या जो है वो लय प्रधान होती है लय प्रधान अपर ब्रह्म विद्या लय प्रधान और पर ब्रह्म विद्या बाध प्रधान तो क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं क्या आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं क्या आप शोक मिटाना चाहते हैं तो अभयम तीर शताम पारम जो लोग दुख समुद्र के पार जा करके अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए निष्काम वैदिक कर्मियों के लिए जो सेतु रूप अपर ब्रह्म है और जो अक्षर पर ब्रह्म है इन दोनों का चेतुम ज्ञातुम चके मही हमको चयन भी करना चाहिए और उसका ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए अब आगे बताते हैं इसी से पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म अधिकम पिबंत जीव और परमेश्वर दोनों का जो वर्णन किया उस प्रसंग को अब आगे ले चलते हैं तो देखो जीवन में आलसी नहीं बनना चाहिए आलस्य और प्रमाद और तंद्रा और मोह ये तो सब तमो गुण है जीवन में उत्साह चाहिए सफाई देने में भी नहीं लगना चाहिए हो रास्ते में एक महात्मा ने बताया कि रास्ते में कैसे चलना चाहिए बोले शेर की तरह शेर की तरह हमारे पंजे के नीचे कौन आया कौन दबा कौन टूटा है ना अपने रास्ते में चलना है तो तुमको आगे देखना आगे बढ़ते जाओ और क्या छूटा क्या छूटा कौन गिरा कौन मिला कौन पीछे छूटा कौन आगे मिलेगा ये सब ख्याल नहीं अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो और शेर की तरह आगे बढ़ते जाओ जीवन में आशा चाहिए जीवन में उत्साह चाहिए जीवन में आकांक्षा उत्साह चाहिए सफाई देने में भी नहीं लगना चाहिए रास्ते में एक महात्मा ने बताया कि रास्ते में कैसे चलना चाहिए बोले शेर की तरह शेर की तरह हमारे पंजे के नीचे कौन आया कौन दबा कौन टूटा है ना अपने रास्ते में चलना तो तुमको आगे देखना आगे बढ़ते जाओ और क्या टूटा क्या टूटा कौन गिरा कौन है ना कौन पीछे टूटा कौन आगे मिलेगा ये सब ख्याल है अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखे और शेर की तरह आगे बढ़ते जाओ जीवन में आशा चाहिए जीवन में उत्साह चाहिए जीवन में आकांक्षा महाराज साधुरी लगाने में अगर सारा दिन बीत जाएगा तो अपने कर्तव्य को पूरा कर करोगे से हाँ साबुन लगाना और शरीर को रंगना और मेकअप करना इसी में सारा समय बीत गया है ना घर गृहस्थी के लिए कोई समय निकले तो घर का भी तो काम धंधा देखना चाहिए ना तो आशा उत्साह है ना आशा प्रतीक्षे संगता और जीवन में आशा हो प्रतीक्षा हो आकांक्षा हो उत्साह हो प्रयत्न हो तब जीवन आगे बढ़ता है और हाथ पर हाथ धर के बैठ रहे अरे कहीं नहीं जा सकते तो ये मनुष्य जो है वो एक रथी की स्थिति में है और जैसे रथी पुरुष रथ पर बैठते हैं उसी में अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता ना एक आदमी मोटर में बैठ गया समझो मोटर भी है मोटर में बैठने वाला भी है अब वो मोटर को कहीं चलावे नहीं है? बोले हम तो मोटर में ही रहेंगे मोटर में खाएंगे मोटर में खाएंगे मोटर खड़ी रहेगी तो तो बच्चा मोटर भी खराब हो जाएगी और वो आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर सकेगा तो ये जो शरीर है एक रथ की स्थिति में है मोटर की स्थिति में है आत्मान रथिनम विधि ये समझो कि तुम रथी हो और शरीरम रथम है वतु और ये शरीर रथ है तो और बुद्धि सारथी है और मन बागडोर है और इंद्रिया घोड़े हैं अब आप देखो रथ पर तो बैठे हुए हो घोड़े जुटे हुए हैं सारथी के हाथ में बागडोर है और तुम रथी हो और रथ तुम्हारा चलता है कि नहीं चलता है अरे मेरे बाप और चलता है तो किधर जाता है गढ़े की ओर जा रहा है खराब सड़क पर जा रहा है गढ़े की ओर जा रहा है हैं कि जहाँ तुम्हें पहुँचना है वहाँ की ओर चल रहा है ये मालूम तो होना चाहिए ना तो आत्मान रखिनम बुद्धि ये जो उपाधिकृत संसारी है शरीर को मन को और इंद्रिय को एक उपाधि समझो इनको अपना आप मान करके जीव बना बैठा है वो रखती है ये संसारी बना जो है उपाधिकृत है ये जाना आना क्यों है जाना आना इसलिए कि तुम रथ पर बैठे हो श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा कि ये संसार जो है वो देहाभिमान कृत है तो हमारे भोले लोग जो है ना वो तो कहते हैं महाराज हमारा संसार ही बिगड़ जाएगा तो संसार का मतलब उनका होता है बेटा बेटी स्त्री पुरुष धन दौलत शास्त्र ये सब संसार है तो नहीं तो शास्त्र में जो संसार शब्द है वो इसको संसार नहीं बोलते हैं हमने जितने संतों विद्वानों के प्रवचन सुने उनमें सबने संसार शब्द का अर्थ एक बताया संसरण सरकना हो दुनिया में अपनी जगह पर कोई नहीं रह पाता ये बिछलन ये फिसलन न चाहने पर भी अपनी जगह से चीजें हटती जा रही हैं संसरा इनको बोलते हैं संसरा हाँ। लेकिन एक आज समाजी विद्वान ने संसार शब्द का अर्थ दूसरा बताया था उसने तो बताया था कि सम्यक सार गए जिसमें उसका नाम संसार है ना सम्यक और सार संसार और शंकराचार्य आदि जो विद्वान हैं वो कहते हैं संसरा इसमें राजा राजा नहीं रहता इसमें मंत्री मंत्री नहीं रहता इसमें विद्वान विद्वान नहीं रहता है ना हमने देखा एक बहुत बड़े विद्वान को पागल हो गया था देखो पंडित नहीं रहा वो वो महाराज श्लोक बोलता था और वो फटिका बोले व्याकरण की महाभारत कंठस्थ था उसको आंसू कभी था तो जब पागल हो गया तो बनारस के चौक में वो घूम रहा था संस्कृत बोलता था बात करे संस्कृत में लेकिन पागल पर तो कहने का मतलब ये कि उसकी पंडिताई जो थी ना वो सरक गई हो संकरणशील है हाँ, वैदुष्य भी पांडित्य भी विद्वत्ता भी संसरणशील है वो भी सरक जाती है धन सरक जाता है जवानी सरक जाती है तो पता लगता है काले बाल जब सरकने लगते हैं तो पता लगता है ये चिकनाई मुंह पर की जो है ये सरकने लगती है तो पता लगता है ये दुनिया संसरणशील है संसरणशील तो अपने आप को देखो कि ये सरकने वाली चीज जो है इसका अभिमान करके संसारो अभिमान करता है अभिमान करता माने सरकने वाली चीज को मैं मान बैठना इसी का नाम संसार है हाँ। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार शंकराचार्य ने संसार की संसार की परिभाषा की कि अपने को कर्ता मानना और अपने को भोक्ता मानना ये संसार है ये नहीं समझना कि कोई है ना सौ पचास वर्ष तपस्या कर ले तो उसको ये अध्यात्म ज्ञान हो जाता है बोला वो फिर वहाँ से सड़क के बिल्कुल संसार में वही राग देश में है ना वही नंदा स्तुति में सौ सौ पचास पचास बरस हाँ। भजन करने के बाद भी भगवान की ऐसी लीला देखने में आती है जब करने के बाद भी व्रत करने के बाद भी उपवास करने के बाद भी दिल कहाँ है तुम्हारा मन कहाँ है तो देखने में आता है कि वही राग द्वेष के चक्कर में वही गुण दोष के चक्कर में है ना पड़ गए तो ये जो सरकने वाली चीज है इसको मैं मेरा नहीं मानना ये संसार से छूटने का उपाय है जितनी भी बदलने वाली चीज है परिवर्तनशील ज्ञान होने पर वो विवर्त मालूम पड़ता है और विवेक की दशा में परिवर्त मालूम पड़ता है बोला दो है विचार करने पर मालूम पड़ेगा कि संसार की सब वस्तुएं परिवर्तनशील हैं हाँ। और ब्रह्म दृष्टि से मालूम पड़ेगा कि सब वस्तुएं विवर्त हैं परिवर्त हैं कि विवर्त हैं हाँ। तो परिवर्तशील माने तरंग की तरह उठने वाली विवर्त परिवर्त माने परिवर्त माने संस्कृत में तरंग होता है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ऐसे ये पर ब्रह्म परमात्मा में लहर की तरह ये संसार उठ रहा है ये देह ये इंद्रिय ये मन ये मैं कहने लायक नहीं है ये मेरा कहने लायक नहीं है बदल रहा है जिसने इसके कर्म को अपना कर्म माना और जिसने इसके भोग को अपना भोग माना और जो कर्म और भोग में फंस गया वो संसारी हो गया उपाधि कृपा संसारी ये संसारी पना जो है आभिमानिक है जैसे किसी का धन गया और उसने कहा कि हाय हाय है ना रुपया खो गया और बोला क्या कि मैं मर गया अच्छा तो कैसे मरा धन गया धन और वो मर गया है तो ये मृत्यु कैसी है बोले आभिमानिक है उसने धन के साथ अपने को इतना जोड़ लिया था कि धन के जाने को अपना मरना समझ लिया है ना और किसी की स्त्री बीमार पड़ गई किसी का पुत्र बीमार पड़ गया किसी का संबंधी अरे महाराज मैं तो मर गया है ना तो वो कैसे मर गया उसका शरीर अलग उसका शरीर अलग वो कैसे मर गया बोले आभिमानिक रीति से मरा आभिमानिक रीति से मरा माने उसी को वो अपना आ, मैं मेरा समझता है इसलिए मरा नहीं तो काय मरता तो ये जो जो देह है ना देह इसके साथ भी जो संबंध है वो आभिमानिक है अभिमानित है माने केवल अभिमान करने के कारण ही देह को हम अपना मैं समझते हैं पापी समझते हैं पुण्यात्मा समझते हैं तो जब अविद्या से सूक्ष्म शरीर को मैं मेरा पापुण्य को मैं मेरा सुख दुख के भोग को मैं मेरा समझ लेते हैं अविद्या से तो संसार गमन मनाया तो संसार में जाएंगे और जब विद्या से विवेक करके अपने को देह से ताप से पुण्य से राग से द्वेष से दुख से दुख से अलग कर लेते हैं तो मोक्ष गमन मनाया तो तुम्हें किधर जाना है संसार गमन करना है सरकती हुई चीजों के साथ सरकना है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को जानना है उन दोनों में साधन ये शरीर रूप रस है उसकी कल्पना करते हैं सत्र आत्मा नाम आत्मानम माने जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बीच में ये जो जीवात्मा बैठा हुआ है रितकाम जो कर्म का फल भोगता है संसारी है वो इस रथ का स्वामी है और ये शरीर रथ है शरीरम रथ देवतु और क्यों बोले इंद्रियां जो हैं ये शरीर रूपी रथ को खींचती हैं पांव चलता है आंख देखती है और पांव चलता है देखो अंध पंगु न्याय है वो कर्मेंद्रिया अंधी हैं और ज्ञानेन्द्रिया आंख वाली हैं एक था अंधा आदमी उसको कहीं जाना था परंतु रास्ता तो दिखता नहीं था उसी जगह एक लकड़ा आदमी बैठा था उसको रास्ता तो दिखता था लेकिन पांव से चला नहीं जाता था तो दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली अब अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया है तो लंगड़ा जो है वो आंख से देख के रास्ता बता रहे इधर से चलो और वो जो अंधा था वो अपने पांव से चले उस अंधे के पांव ठीक थे आंख नहीं थी और लंगड़े की आंख ठीक थी पाव नहीं थे दोनों ने जब आपस में दोस्ती कर ली तो सैकड़ों मील का रास्ता तय कर लिया तो ये जो हमारी कर्मेंद्रिया है ना पाँव को ये मालूम नहीं है कि कहाँ रखना चाहिए पाँव ना लेकिन आंख देखती है यहाँ पाँव रखना चाहिए और पाँव करता है पाँव वहाँ पहुँचा देता है इसी को विद्या और अविद्या का समुच्चय बोलते हैं हो ज्ञान और कर्म का समुच्चय विद्या रूप ज्ञानेन्द्रिय और अविद्या रूप कर्मेंद्रिय दोनों से मिल के व्यवहार चलता है संसार का लेकिन यदि परमात्मा को देखना हो तो वहाँ कर्मेंद्रिय की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हाथ से पकड़ना नहीं है जीभ से उससे बोलना नहीं है पाँव से वहाँ जाना नहीं है मूत्र इंद्रिय और गुदा आदि का वहाँ प्रयोग करना नहीं है, है? अच्छा और ज्ञानेन्द्रिया जो है उनके द्वारा अलग अलग शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखना नहीं है और मन से संस्कार के अनुसार उपासना करनी नहीं है तो वहाँ तत्व ज्ञान जो है वो परमात्मा का स्वरूप बताता है वो कर्मेन्द्रियों से और ज्ञानेन्द्रियों से विशेष ज्ञान से और कर्म से समुचित होकर के वहाँ ज्ञान काम नहीं करता है वहाँ ज्ञान स्वयं स्वरूप भूत ब्रह्म को प्रकाशित करता है ये उपनिषद का सिद्धांत है नारायण इसको इसको जब थोड़े दिन सत्संग करते हैं जब ये बात समझ में आती है तो ज्ञान इंद्रियों के सहयोग से कर्म इंद्रिया बाहर ले जाती हैं और कर्मेंद्रियों के सहयोग से ज्ञानेन्द्रिया अपने विषय देश में पहुंचती हैं परंतु अंतर देश में विद्यमान जो पुरुष है उसके लिए ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बाध्य की जरूरत नहीं है और अंतर देश में विराजमान जो शुद्ध पुरुष है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के संस्कार से युक्त मन की आवश्यकता उसके लिए नहीं है वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उस ज्ञान स्वरूप की अखंडता को उपनिषदें बोधित करते हैं अब बुद्धि है सारथी और मन है लगाम बागलोर कहो लगाम कहो तो एक घोड़े को जब लगाते हैं मुंह में लगाम तो उसको लगाम बोलते हैं बोला और जब कई घोड़े रथ में जोड़ते हैं ना तो सब घोड़ों के मिल करके एक बागडोर बन जाती है हाँ, लगाम है बागडोर है तो बुद्धिम तू सारथिम देते अब ये देखो इंद्रियां हैं घोड़े शरीर है रथ और घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम है बागडोर है मन और सारथी कौन है है ना कि रसी का जो साथ दे उसका रति तो बुद्धि है आप थोड़ा ध्यान दे के देखोगे तो पहले बुद्धि निश्चय करे कि इस वस्तु को पाना उचित है कि छोड़ना उचित है और फिर मन संकल्प करे जिसको इसको छोड़ दो इसको पाओ और फिर सारथी के हाथ में स्थित होकर के ये जो लगाम है मन है ये इंद्रियों को अपने काबू में रखे और फिर इंद्रिया सारथी की प्रेरणा के अनुसार रथी के इष्ट देश में उसको ले जाए तब तो आप ठीक ठीक पहुंचेंगे और नहीं पहले घोड़ों ने देखा कि उधर तो बड़ी हरी हरी घास है बोले हम उधर चलने करने चलेंगे लगाम पड़ गई भी दी और बुद्धि ने दे दी छूट अब रथी महाराज का क्या हो गया है ना अरे ये रथ तो घोड़े घसीट के गड्ढे में ले गए अब आप अपने जीवन की ओर देखो कि आपके जीवन में मैंने पहले ऐसे देखो कि आपने घर में सलाह कर ली कि घर में इतने वस्त्र की आवश्यकता है तब ठंड कटेगी है ना तब समाज में है ना प्रतिष्ठा बनी रहेगी और उसके बाद संकल्प किया कि वो वस्त्र चल के लेंगे और फिर हाथ पांव से चल के गए आंख से देख के वस्त्र को पसंद किया और लिया और घर में ले आए एक तो ये गति हुई ना और एक हुई कि रास्ते में चल रहे हैं या क्लब में गए सिनेमा में गए किसी के घर गए और वहाँ देखा कि एक स्त्री ऐसी साड़ी पहने हुए है ना आंख में देखा जिस गई हाँ, बहुत बढ़िया है भाई मन ने कहा कि ऐसी साड़ी तो हमारे घर में होनी चाहिए है ना बोले बुद्धि ने कहा कि भाई पैसा तो है नहीं है अच्छा और घर में तो साड़ी सैकड़ों पड़ी है, है? और इसके बिना ठंड भी कट जाएगी और इज्जत में कोई बच्चा भी नहीं लगेगा है बुद्धि ने ऐसे कहा लेकिन मन ने कहा कि नहीं हमारी आंख को वो साड़ी भा गई है हम तो खरीदेंगे बुद्धि ने कहा कि पैसा नहीं है हाँ। तो मन ने कहा कि पतिदेव के जेब में से निकाल लो हाँ। है ना अब ये क्या बात हुई इंद्रियों के कहे अनुसार मन को बनाना और मन के कहे अनुसार बुद्धि को बनाना है बुद्धि को मन को इंद्रियों को काम के अधीन कर देना ये है ना ये श्रीमद भागवत में है भगवत गीता में है इंद्रियाणी मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एक ही विमोहक ज्ञान मावृत्ति देहे नाम काम कहाँ रहता है काम है शत्रु परंतु उसने अपना किला तो बनाया ही नहीं काम की कोई राजधानी नहीं है काम का कोई किला नहीं है वो कहाँ रहता है कौ तुम्हारे घर में रहता है कि तो तुम्हारे घर में कैसे रहता है तो उसने इंद्रियों को रिश्वत देकर मन को रिश्वत देकर बुद्धि को रिश्वत दे करके खिला पिला के है ना चौक खिला के है ना तुम्हारी इंद्रियों को पहले भोग में डाल दिया मन को मना करके इंद्रियों के पीछे कर दिया बुद्धि को मना के उनके साथ कर दिया तुम्हारा जीवन काम के अनुसार काम के अनुसार करने लगा है? तो इंद्रियाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम इंद्रियां गई पहले बाजार करने फिर मन में इच्छा हुई कि हमको ये मिल जाए और फिर बुद्धि विचारी को मजबूर हो करके इंद्रियों और मन का साथ देना पड़ा बोले सदस्य हरत प्रज्ञा डाकू लूट गए लूट ले गए चारू चोर लूट ले गए चोरी हो गई तुम्हारे घर में क्योंकि तुम इंद्रियों के पीछे चले मन के पीछे चले अपनी समझदारी और अपनी बुद्धि को तुमने खो दिया इंद्रिया हयान तो पहले ज्ञान होता है कि कौन सी वस्तु सुख देने वाली है कौन सी दुख देने वाली है ये बुद्धि हुई तो फिर दुख देने वाली को छोड़ो सुख देने वाली को पाओ ये मन हुआ और उसके बाद हाथ से पांव से कर्म करने लगे और ज्ञान इंद्रियों से उसके साथ चले गए हमारे प्रयत्न के मूल में इच्छा होती है और इच्छा के मूल में जानकारी होती है तो यदि तुम्हारी जानकारी विषय भोग की वासना से प्रभावित होकर के काम करती है तो तुम्हारा सारथी शत्रु के साथ मिल गया है ये व्यक्तिगत जीवन में ये विचार करने की बात है कि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों के कहे अनुसार काम करते हैं कि तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारे मन बुद्धि के अनुसार काम करते हैं तो ज्ञान इच्छा और प्रयत्न जड़ जड़ में ज्ञान उसके बाद इच्छा और उसके बाद प्रयत्न ये हमारे मनोविज्ञान की वैदिक मनोविज्ञान की ये शैली है अनजान वस्तु को न पाने की इच्छा होती है न छोड़ने की जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो है? उसको पाने की भी इच्छा नहीं होगी और छोड़ने की भी इच्छा नहीं होगी इसलिए इच्छा होती है ज्ञान पूर्वक और जिस वस्तु के पाने या छोड़ने की इच्छा होती है उसके लिए प्रयत्न होता है, तो प्रयत्न के मूल में इच्छा और इच्छा के मूल में ज्ञान अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा सारा जीवन ज्ञान पर लटक रहा है ज्ञान पर आधारित है हमारा सारा का सारा जीवन तो ज्ञान यदि ये हुआ कि ईश्वर को पाना कि तो ईश्वर बढ़िया है तो भक्ति करने की इच्छा होगी और ज्ञान यदि हुआ कि विषय बढ़िया भोग बढ़िया है तो भोग करने की इच्छा होगी और यदि ये हुआ कि ज्ञान तो हमारे आत्मा का स्वरूप ही है है ना इसमें बढ़िया और घटिया को क्यों जोड़ना इसका विशेषण क्यों लगाना क्यों लगाना विशेषण कि ये चीज बढ़िया है और ये चीज घटिया है इसको पाओ और इसको छोड़ो अरे हम ज्ञान मात्र स्वयं सचित आनंद स्वरूप हमको इच्छा करने की जरूरत प्रयत्न करने की जरूरत है तो अपने ज्ञान को इच्छा और प्रयत्न की ओर क्यों ले जाते हैं हम विषय में महत्व बुद्धि होने के कारण विषय प्रसन्नता होने के कारण ये श्रद्धा होना कि इस विषय के बिना हम सुखी नहीं हो सकते और ये श्रद्धा होने के कारण कि ये विषय हमको दुखी कर देगा विषय में दुखित्व का सामर्थ्य जोड़ना कि ये हमारे दुख का कारण है ये भी विषय पर श्रद्धा है और विषय हमको सुख देगा ये विषय से सुख पाने की आशा ये भी विषय पर श्रद्धा है ये मान्यता है ये स्वीकृति है क्योंकि एक ही विषय को कोई सुख देने वाला मानता है और एक ही विषय को कोई दुख देने वाला मानता है देखना एक ही विषय को कोई सुख देने वाला मानता है और कोई दुख देने वाला मानता है तो विषय में तो सुख दुख है नहीं गलत जानकारी के कारण उसमें सुख दुख का आरोप हुआ है और यदि हम विषय में सुख दुख का आरोप न करके विषयगत सुख दुख का अनुसंधान न करके अपने स्वरूप का अनुसंधान करें बिल्कुल ज्ञान स्वरूप है ना और विशेष ज्ञान न होने से वो इच्छा का जनक नहीं होगा विशेष ज्ञान ही इच्छा का जनक होता है स्वरूप ज्ञान इच्छा का जनक नहीं होता है दूसरे को जब हम जानते हैं तो दोस्ती करें कि दुश्मनी करें ये ख्याल होता है अपने को जानते हैं तो उससे दोस्ती करें कि दुश्मनी करें ये ख्याल थोड़ी होता है वो तो अपना आपा ही है तो स्वरूप ज्ञान में दोस्ती या दुश्मनी की इच्छा नहीं है प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं है त्याग अथवा संग्रह नहीं है अपने स्वरूप के ज्ञान में और कर के ज्ञान में के ज्ञान में त्याग भी है संग्रह भी है शत्रु भी है मित्र भी है राग भी है द्वेष भी है हाँ, तो शुद्ध ज्ञान वो है जो प्रवृत्ति निवृत्ति त्याग संग्रह पाप पुण्य राग द्वेष सुख दुख का जो जनक नहीं होता और जन्य भी नहीं होता उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं तो शुद्ध ज्ञान अपना स्वरूप है और जब तक महाराज कर्ता भोक्ता बने बैठे हैं संसारी रथी बने बैठे हैं और हम सलाह किसकी मानते हैं कि जिससे इंद्रियों को सुख मिले मन को सुख मिले हे भगवान हम्म। बोले देखो व्यापारी किसकी सलाह मानता है असत्य की निंदा करने वाले की सलाह नहीं मानता है और सत्य की प्रशंसा करने वाले की भी सलाह नहीं मानता है वो जिससे भजकलदारम भजकलदारम पैसा जिससे आ गए उसी सलाह को मानता है, हैं? इसी का नाम संसार है अब तुमको सरकना पड़ेगा अपनी जगह से सरकना पड़ेगा और जब अपनी जगह से सरकोगे तब पुलिस का डर था तुम्हारे ऊपर आवेगा टैक्स का डर तुम्हारे ऊपर आवेगा जाने का डर तुम्हारे ऊपर आवेगा घाटा का डर तुम्हारे ऊपर आवेगा है क्योंकि सलाह तो तुम मानते हो मुनाफा बताने वाले की तो इंद्रियां जब बतावेंगी कि इससे होगा सुख इससे होगा सुख तब फिर मन पर उसका बड़ा संस्कार उसने बुद्धि को खींच लिया और रखी राम मना है ना देखो रथी के हाथ में होना चाहिए सारथी और सारथी के हाथ में लगाम और लगाम के अंदर घोड़े होने चाहिए है ना और घोड़े से रथ को ले चले और यहाँ क्या हुआ है कि घोड़े हैं स्वतंत्र है और लगाम टूटी टूटी है जुड़ी नहीं है है ना और सारथी है दुश्मन से मिला हुआ और रथी जी है ना कहे शराब पी के बेहोश है है ना अभी गाड़ी कहा जाएगी है हाँ। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम पेटिया हो मनीषिण शुद्ध स्वरूप भोक्ता नहीं होता ये इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श गंध आदि विषय देश में जाने वाला जो है ना इंद्रिय और मन से जो ये जो आत्मा है इसी को भोक्ता कहते हैं शुद्ध आत्मा का नाम भोक्ता नहीं है इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा का नाम भोगता है यदि विवेक करके इंद्रिय और मन से अपने आप को अलग कर लो तो भोक्तापन चला जाए अब जिसको विज्ञान होता है और जिसको नहीं होता है उन दोनों में क्या अंतर होता है ये बताने के लिए ये बताने के लिए अगला प्रश्न आता है अब कल कल और परसों